यहाँ छिड़ी तीन टीम के बीच अंताक्षरी जीते के जंग बनी उहय विनर ऑफ द वीक जेकर हुई शुक्रवार और शनिवार मिला के सबसे ज्यादा अंक विश्वमित्र इंडिया परिवार शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम अंताक्षरी नमस्कार प्रणाम जय माता दी आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बाओ कार्यक्रम में जौन कार्यक्रम आपके और हमने के प्यार के बहुत गहरा बनावला यानी कि आपके ही कार्यक्रम Maggi Mahua Antakshari powered by Vishwamitra India परिवार जोड़े जिंदगी की खुशियों की लड़ी और हार्दिक अभिनंदन मटे विस्फाम बिस्किट ऑडियंस के नवरात्रि के इजे पावन बेला में आज पांचवा दिन बा मैया के पांचवा रूप के पूजा होला यानी कि अस्कंद मैया के पूजा करने से हमने के और इसी पावन शुभ अवसर पर हम और अजीत आप सभी को और अपने तीनों पार्टिसिपेंट्स को यानी कि तीनों टीम को शुभकामना देते हैं और शुभकामना देते हुए माई का आशीर्वाद पाते हुए चले अब सबसे पहल का काम कही जाओ यानी कि आप सबन के परिचय कराओ तनी उहे तीन गो टीम बा तीन जगह से तीन परिवार के दू दू लोग आयल बा यानी कि दिल वाले वाले और निराले और सबसे पहल का टीम बा लखनऊ के दिल वाले शीला पांडे और संजोली पांडे और दूसर का टीम बाटे बिहार पटना से सुमित कुमार भट्ट और राहुल राजी और अपने निराले टीम जो है रामगढ़ झारखंड से शालिनी दुबे और पप्पू पाठक बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत आप सब लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन अजीत इहो मन में क्यूरियोसिटी बा कि सबके रिलेशन का का बा हाँ तो चलिए दर्शक लोग आप सबन के जिज्ञासा बा कि जाना जाओ कि दिलवाले टीम के लोग में का रिश्ता बा जी सबसे पहले तो सभी को जय माता दी जय माता जय माता दी मैं मेरी पार्टनर मेरी मम्मी है ओ माई बेटी हाँ, क्या बात का है? बात का बात तो कैसे लग रहा बा एक कार्यक्रम के हिस्सा बन के कैसे लग रहा बा अरे बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मतलब इतनी मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती चलिए कोई बात नहीं हम लोग <laughs> आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं आज की संताक्षरी के लिए और साथ ही साथ चलते अपने वाले टीम के पास क्यूँकी दोनों के चेहरे पर तो बड़ी अच्छी मुस्कान दिख रही है मुझे ये पता चला आप लोग दोस्त है हाँ जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं हाँ सच्चे दोस्त अच्छे दोस्त क्या बात अच्छे दोस्त और सच्चे दोस्त सच्चे और अच्छे दोस्त चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए और आगे बढ़ाता नहीं सर निराले टीम के पास निराले टीम में आप लोगन के का रिश्ता बाटे ये मेरे मामा जी है ओ मामा क्या और बात है अभी तक अंताक्षरी में पहली बार ऐसा हुआ है हाँ, हाँ। की मामा और भांजी की जोड़ी क्या बात है हमारी सबसे यूनिक जोड़ी है सबसे यूनिक जोड़ी है इसलिए और नाम भी आप लोग को टीम भी वैसी मिली है निराले तो यूनिक तो हो नहीं है तो चलिए दर्शक लो आप समझ तक जाना था नहीं लेकिन यहाँ के जे तीन परिवार बाबू नहीं खे जानत कि पहल का राउंड के का नाम है तब बताओ तनी पहल का राउंड के नाम है हमार अंताक्षरी हमार अंताक्षरी में हमने दोनों में से एक पार्टनर कोई एक गाना गाई ओकर अंतिम अक्षर से पहला टीम के गावे के बा ओकरा बाद ओकर जो अंतिम अक्षर आई ओकरा से दूसरा टीम के गाय के बा और यही चीज आगे निराले के साथ भी कंटिन्यू होगा सही गाने के लिए पूरे दस अंक हैं हम्म। और नहीं या गलत गाने पर काट ही नहीं सकते चांस ही नहीं है इसलिए जीरो और साथ ही साथ ई बात ध्यान देवे वाला बा कि रउआ लोगन के गाना गाए खातिर यानी स्टार्ट करे खातिर मिली सिर्फ और सिर्फ पांच सेकेंड जॉन में पूरा मुखड़ा एकदम करेक्ट गावे की बा यानी कि अगर एक भी शब्द गलत भइल तो हो जाए लड्डू हाँ। ठीक बात तब पहल का क्लू देता नहीं हम परदेसिया इतना पता सजना तेरी कौन हूँ तेरी कौन हूँ मैं तेरी कौन हूँ मैं तेरी कौन हूँ मैं दिलवाली की मौसी मेरे होठ वसे न दुनिया क्या बात है कुलेल करेला मोर होठ वसे दुनिया को ले उड़ गया रे तेरी हवा के झोंके से लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा के झोंके से तुझको पियाने देख लिया हाय रे धोखे से माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो निराली टीम बॉस न जाने ये कैसी रातें वो बरसाते वो भीगी भीगी रातें छवि हाँ जी देखो मामला यहाँ बाटे कि सब लोग आपल अपन कर्म के हिसाब से सबके नंबर मिलल बा बिल्कुल जैसे तू कहेलू कि हम्म। जे भोजपुरी गीत गाई ओकरा मिली पांच अंक बोनस यानी कि वो पंद्रह अंक पाई और पंद्रह अंक मिल गई बाद दिलवाले टीम के और निराले टीम बिल्कुल सही गा के पा पूरा पूरी दस अंक और अफसोस कि तनी मने तुझे मुझे वाला मामला फंस गई है ऐसे एक शब्द थोड़ा सा मिस्टेक हो गल तो आप लोगों के हम खुश होके एक पैकेट दे तनी लड्डू हम लड्डू वापस भी ले सकते नहीं अगर आप अच्छा काम करें तो वो लड्डू हम अपना दर्शक लोगों के खिया दें ठीक बा चलिए आगे बढ़ल जाओ और अगला क्लू यानी कि अगला गाना हमारी पार्टनर गाएंगी प्लीज रही ना रही हम चिपके से का गैला तू नस नस में तू गैला समाय डाल दिला परेशानी में गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवान जब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में निराले दिन के लिए माँ माँ मार मार के हो बलमा मार मार के अपना सजना के अपना बलमा के जगावे सावर गुरिया चूड़ियों से मार मार के अपना सजना के जगावे सावर गुरिया चूड़ियों से मार मार के का, का, कैसे गिरा बसैया उस पंद्रह बांटे के बाद अगला क्लू भी बांट दे जरा यानी गाना गा देगा बढ़िया सा अरे गम गम गम कल रात के रानी कि गम गम गम कल रात के रानी आ अब चंदा मुस्काइल तो सुनार लगे ए निमान लगे केहू त चुनरिया के भीतर ओ सुनार लागे ए निमान लागे केहू त यार के भीतर सुनार लागे केहू त यार के भीतर से निराले गाएंगे तो बस का नारा होली दिलवाले रात गाएंगे राते बलमुआ दिहले गारी हा तरकारी के बिना ना राते बलमुआ दिले गारी हाँ तरकारी के बिना ना एक तो बेगारी दिहले तू सहर में मार दिहले एक तो बे के सागर बिंदिया लागे चार नैना लागे नेहा के सागर बिंदिया लागे चार तू जान हो हो हमर जान हो हो तू जान हो हो हमर जान हो वाली निराली ने तो कमाल ही कर दिया चलिए इस कमाल और धमाल के बाद हम भी कुछ काम कर लेते हैं भाई हमें और कुछ तो आता नहीं है देते हैं इनको पूरे पूरे पंद्रह पंद्रह पंद्रह रवालो के कैसे लाग रहा बाब इंजॉयमेंट हो रहा बा खूब चनी दर्शक अभी आवत अनिशा यह तीनों परिवार के लेके और यह तीनों टीम मस्ती रही मौज रही फौज रही लेकिन अभी रही एक छोटा संतराल वही कार्यक्रम में जिक्र नाम Maggi Mahua Antakshari powered by Vishwamitra India परिवार जोड़े जिंदगी की खुशियों की लड़ी ये कारण बाकी जब ब्याह नहीं क्या भइल तो कैसे बुझाई कसम ले लो खुदा की कसम बड़ा उछल रहा बड़ा ये जय बार मैगी हमको लगती है अम्मी इसको बनाती मेरी मम्मी मैगी में मसाले होते तगड़े इसलिए होते हर घर झगड़े चाय के लिए जैसे टोस्ट है जैसे मैगी मेरा दोस्त है मेरी मम्मी ने मैगी बनाई मैं टिफिन लेकर के गई स्कूल में और मैं टिफिन लेकर भाग रही थी मेरे पीछे पीछे मेरी सारी फ्रेंड्स आगे से मैम राउंड पे थी मुझे पता नहीं था मैं अचानक से आके मैम से भिड़ी मैम बोली ये क्या किस लिए झगड़ा हो रहा है मैंने बोला कि मैम मम्मी ने मैगी बनाया है और इसीलिए मैगी के लिए झगड़ा हो रहा है मैम बोली चलो टिफ़िन इधर करो और सबके सब क्लास में जाओ फिर हम लोगों ने टिफ़िन उन्हें पकड़ाया और मैं क्लास में गई बाद में मेरी मैम टिफ़िन खा ली लिया कि मुझे पकड़ा के कहीं मैगी बड़ा यम्मी था <laughs> अगर राहुल जिंदगी में भी बाग कौन हो ऐसे खुशी के पल तो ओकरा के हमने के number nine double zero four seven nine double zero four seven पर एस एम एस या कॉल करके हमने के साथ शेयर कर सकीला काहे की हर खुशी खुशी देवेला विश्वमित्र बाई विश्वामित्र इंडिया परिवार